शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भगवद्वरि शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुर coração então, uh, जिज्ञासा भगवान का जो वचन है बिल्कुल सत्य है जरा सा भी उसमें मिथ्या नहीं किंतु भगवान मेरे अंदर एक इच्छा है ये जो आपकी विभूति है वैभव है विराट स्वरूप है मैं देखना चाहता <clears throat> यदि आप दिखाना चाहते हो और मैं देखने योग्य हूँ आप दिखा सकते हैं तो इस प्रकार अर्जुन की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान ने कहा अर्जुन मैं अवश्य दिखाऊंगा तेरे जैसा शिष्य और मित्र है उनको ये दिखा निकाले और इसको किंतु ये मेरा स्वरूप है ये भौतिक चक्षु के द्वारा आप नहीं देख सकते उसको देखने के लिए साधन से प्राप्त हुआ दिव्य चक्षु चाहिए उसको ही शास्त्र में रितंबरा प्रज्ञा भी कहा गया है तो मैं आपको दिव्य चक्षु दे रहा हूं उसके द्वारा मेरा जो विभूति है योग है विस्तार है आप देख सकते उसके बाद अर्जुन ने जो देखा उसको वर्णन कर रहे हैं भगवान आपका क्या क्या स्वरूप है अनेक मुख है और अनेक नयन है और अनेक दिव्यांबर आप धारण किए उसको मैं कभी वर्णन भी नहीं कर सकता और एक तरफ से दिव्य आयुधों को उठा करके आप मानव शत्रुओं को संहार करने में प्रवृत्त रहे हैं ये सारा रूप देख रहा हूँ तो हम दसवें तक विचार किया था ग्यारहवा दिन और भी अर्जुन बता रहे हैं उस विश्वरूप का वर्णन देखिए वो विश्वरूप है केवल अर्जुन ने देखा भगवान ने कहा दिखाया कुरुक्षेत्र के मध्य में उस कुरुक्षेत्र के मध्य में और किसी ने नहीं देखा क्यों नहीं देखा तभी भगवान ने कहा दिव्यम ददा भीष्म पिता महाजी केवल इतना सुन रहे अर्जुन और भगवान का कुछ वार्तालाप हो रहा है बस इतना देख रहे क्या हो रहे कुछ पता नहीं उनके अंदर इतनी बेचैनी हो गई थी भगवान और अर्जुन का जो वचन है एक शब्द है मैं सुनना चाहता तो कैसा सुने कैसे देंगे तो इसलिए जो दिव्य चक्षु के द्वारा अर्जुन को दर्शन तभी वहाँ अर्जुन बता रहे हैं पुनः ग्यारहवीं श्लोक में दिव्यमाल्याम वरदम ऐसा तो भगवान मालाधारी है वर्र पीडन नटवरो कर्णयो कर्णिका वैजयंती माला वैजयंती माला धारण करते किंतु यहाँ कौन सी माला है दिव्य माला अर्थात विलक्षण माला है कभी भी सूखने वाली माला नहीं है ऐसी जो माला दिव्य माला माल्या अम्बरधरम अर्थात अंबर बंधु वस्त्रों को भी धारण किया वहाँ भी दिव्य शब्द लगा दीजिए दिव्य माला और दिव्य अंबर अंबरम अंबर का वस्त्र ऐसे जो विलक्षण अलौकिक वस्त्र को आपने धारण किया दिव्य गंधानुलेपना सर्वत्र दिव्य शब्द लगा रहे एक सामान्य गंध होता है और ये जो गंध है दिव्य गंध है विलक्षण गंध है उसको आपने शरीर को लेपन किया तो दिव्य गंध सर्व आश्चर्यमयम सर्व आश्चर्यमयम ये समस्त है आश्चर्यमय है आश्चर्य वहाँ माना जाता है किसी वस्तु को आपने देखा ही नहीं एकाएक देखते हैं तभी आपके अंदर आश्चर्य होता है कौन सी वस्तु है जैसा पहले ही एक दिन बताया देवतों के सामने यक्ष प्रकट हो गए केनोपनिषद में आया है यक्ष प्रकट हुए थे इसलिए देवतों का अभिमान नष्ट करने के लिए तो विलक्षण यक्ष को देकर देवता आश्चर्यचकित हो गए कौन सा यक्ष है इसको अभी तक देखा ही नहीं तो अलौकिक अपूर्व वस्तु को आप एकाएक देखते हैं तभी आश्चर्य प्रकट होता है अचंबित होता है व्यक्ति ऐसे ही हम बता रहे सर्व आश्चर्यमय सर्व तो समस्त आश्चर्यमय दृश्य से युक्त है आप देवम और कैसे है देवम देवम तो द्योतनत्वादि देवम अनंतम अनंतम देवम अनंत का मतलब है न अश्य अंत अश्चे जिसका कोई अंत नहीं अनादि तो और भी हो सकते पहले ही बताया था छह अनादि है उसमें एक है अनादि और अनंत है उसका कभी अंत नहीं होता पांचों का तो अंत होता है जीव का भी अंत होता है जीव भी तब तक है भेद है जब तक जीव भाव है तब तक ईश्वर भी रहेगा माया भी रहेगी संबंध भी रहेगा जीव और ईश्वर का भेद भी रहेगा किंतु जो शुद्ध चैतन्य है वो अनंत है अनंत है अनंतम देवम जिसका कोई अंत ही नहीं है ऐसे जो प्रकाशमान देव विश्व का और एक विशेषण बता रहे विश्वता मतलब सर्वता होगा आप जो सर्वता मुख है चारों ओर से मुख वाले जहां भी देखे आप ही खा रहे श्रुति में भी बता रहे अतः चराचर कठोपनिषद में आया है यमराज नचिकेत को समझा रहे हैं हे नचिकेता वो परमात्मा कैसे है सारा जगत को खा रहे हैं ब्रह्मच क्षत्र उबे भवती हो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये उनका भोजन है ब्राह्मण और क्षत्रिय का उपलक्षण है सारा जगत तो वहां दो ही ग्रहण क्यों किया जिज्ञासा हो सकती है और भी ग्रहण करना चाहिए था ब्राह्मण के वहाँ ज्ञान शक्ति प्रधान है क्षत्रिय के द्वारा वहाँ क्रिया शक्ति है दो मुख्य माना है तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को ग्रहण करने के लिए वहां ब्राह्मण और क्षत्रिय कहा दिया तो जना सबको मारने वाली मृत्यु है वो चटनी है उसको खा रहे चटनी बना तो इसलिए बता रहे यहाँ विश्व विश्व तो सभी मुख वाला आप है सभी मुख से आप ही ग्रहण कर रहे हैं इतना बताने के बाद <clears throat> अभी जो विराट रूप है भगवान की जो विभूति है उसका जो प्रभा है आभा प्रकाश उस प्रकाश का एक उपमा ले रहे हैं तुलना ले रहे हैं हम जो यद्यपि उसकी कोई उपमा नहीं है जैसे आया है राम और रावण युद्ध कैसा है राम रावण यो युद्ध राम राम यो युवा सागरम सागरम समान सागर कैसा है सागर के समान लोग भी कहते आप तो आप ही हैं राम और रावण की युति राम और रावण के समान है उसमें कोई उपमा नहीं कोई सादृश्यता दे ही नहीं सकते आप वैसे ही परमात्मा का जो तेज है आभा है प्रकाश है कोई भी सादृश्यता नहीं ले सकते तो भी अर्जुन प्रयास कर रहे हैं वो बता रहे आगे के श्लोक से पहले चरण देख लीजिए सर्वं जगत्कृष्णम् प्रविभक्तामनेकधा अपश्चत्येव देवश्च शरीरे पाण्डवस्तदा तथा सा विस्मया Shout अभी तो उनका विलक्षण रूप वर्णन किया भगवान ने क्या क्या धारण किया है माला है गंध है ये सब बता दिया आगे भगवान का जो प्रकाश है तेज है गुण है बोल रहे हैं बारहवें श्लोक असदृशी यदि उस सूर्य का प्रकाश के समान हो भी सकता है निश्चय नहीं हजारों सूर्यों के प्रकाश के समान ये भगवान का भा मतलब प्रकाश ये भी हो भी सकता है यदि है संशय पूर्ण रूप से नहीं प्राया यदि तो इसलिए कुमार लिपट ने वहां कहा जितना यदि यदि वेद सत्य है मुझे रक्षा करेंगे जैनों का राजा ने कहा दिया था वेद यदि सत्य है आपको रक्षा करना चाहिए उन्होंने कहा अवश्य यदि वेद सत्य है रक्षा करेंगे पहाड़ से नीचे फेंक दिया था तो इसलिए उसका आंख में चोट आ गई थी मरे तो नहीं तो राजा ने पूछा मरे तो नहीं ठीक है किंतु तो आंख में क्यों चोट आ गई तो ये भी लगा दिया यदि किंतु परंतु है संशयवाचक तो वैसे ही हम बता रहे यदि भाषा है नहीं यदि हो ऐसा मान सकते भाष्या कश्य तस्या महात्मा भाषा तस्य मतलब जो विराट पुरुष है विभूति युक्त है योग युक्त है जिसने अर्जुन को दर्शन दिया था उसका कश्यप महात्मा नहा अर्जुन बता रहे हैं हाँ, महात्मा नहा महात्मा ना मतलब जो विश्वरूप पश्चात जिसने विश्वरूप दिखाया हो भगवान को यहाँ महात्मा नाम होता है महात्मा कहते हैं अपशूत्र बुद्धि जिनके पास क्षुद्र बुद्धि नहीं है परिचिन्न बुद्धि नहीं है उसको महात्मन कहते हैं भगवान भाष्यकार जी ने एक जगह महात्मन शब्द का व्याख्या करते हुए अक्षुद्र बुद्धि तो क्षुद्र बुद्धि किसको कहते हैं परिचिन्न बुद्धि मई और मेरा सबसे बड़ा परिचिन्न बुद्धि कौन है मई मेरा मई मेरा ये मैं और मेरा को दो राक्षसों की उपमा दिया है श्लोकी में ये मधु और कैटव के समान है दो राक्षस मैं और मेरा इसलिए वहां कहा दिया है रुद्रोपनिषद में जीव और परमात्मा में यदि भेद है कितना है मामा और तब इतना ही भेद है अहम और ममा है इतना ही जीव और परमात्मा में भेद है जैसा दृष्टांत दिया ब्रीही तंडुला विवाह ब्रीही और तंडुल में क्या अंतर है ब्रीही मतलब धान हो गया जिसके ऊपर छिलका रहेगा वो ब्रीही कहा और छिलका हटा लिया तंडुल वही सही जीव और शो में प्री ही में तंडोपनिषद में ब्रीही तंडुल के मतलब जिस प्रकार तंडुल के ऊपर छिलका है हम ब्रीही कहते हैं वैसे ही हमारे ऊपर एक नहीं पांच छिलके हैं एक नहीं पांच छिलके बड़े सबसे पहले वाला छिलका है अन्नमय कोश माता माता पित्रो मलोद्भूतम भाष्यकार में बोल रहा है माता पित्रो पितुर मलोद्भूता माता और पिता के मल से उत्पन्न अर्थात खाया हुआ जो अन्न का धातु विषय शुक्र शून्य से उत्पन्न हुआ है ये प्रथम छिलका है और उसके बाद प्राणमय कोश है तो दस तत्वों से बना है पांच प्राण पांच कर्मेंद्र तो पांच प्राण और पांच कर्मेंद्रिय मिलके प्राणमय कोश हो गया दूसरा छिलका हो गया तो तीसरा हो गया मनोमया पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन प्रधान चौथा हो गया विज्ञानमया बुद्धि प्रदान है पांच ज्ञानेन्द्रिया और अंतिम में आनंदमय है पांचवा देखिए वहां आनंद है उसके बाद मया लगा दिया तो आनंद में मया हटने के बाद आनंद पुचम प्रतिष्ठित तय तरह में बता आनंद ही ब्रह्मा है ये पांच छिलकों को हटाना पड़ेगा तो पहले वाला कोष हो गया स्थूल शरीर बीज वाले तीन कोश हो गए सूक्ष्म शरीर अंतिम वाला कोश कोश हो गया कारण शरीर या तीन छिलका मान लीजिए अथवा पांच छिलका तो तब तक ये जीव है और ये पांचों अथवा तीन हटने के बाद सजीव शिव केवल इसलिए मैत्रेय उपनिषद में भी कहा देहो देवालया प्रोक्त शरीर ऐसा नहीं मंदिर माना है देव देवालय प्रोक्ता सजीव केवल शिव ये जीव शिव केवल है किंतु तेजेन अज्ञान निर्माण उसके ऊपर अज्ञान निर्मल्य होना है जैसा मान लीजिए आप काशी अथवा कहाँ गए दर्शन करने कितना बिलवा चढ़ा दिया वहाँ भगवान का दर्शन नहीं होता केवल बिलवा पत्र को हम देख सकते रावण मास इसलिए वहाँ का तेजेद अज्ञान निर्मल्यम शिव के ऊपर अज्ञान निर्मल्य पड़ा है तो उसको त्याग करके सोहम भावे न पूजाए सोहम रूप से उसका चिंतन करें मैत्रे में बता रहे इसलिए हम बता रहे महात्मन भगवान अक्षुद्र बुद्धि इसमें परिचिन्न बुद्धि नहीं है परिच्छिन्न बुद्धि का कारण अहंता और ममता जो अहंता ममता जिसके पास नहीं वही महात्मा माना जाता है देखिए महात्मा का दो अर्थ है एक योगी का अर्थ एक रूढ़ी अर्थ किसी शब्द का अर्थ करना हो आपको ये रूढ़ी में है अथवा योगी में तो चार प्रकार के माने हैं शब्द एक यौगिक है एक रूढ़ी है एक योगा रूढ़ है एक यौगिक रूढ़ है चार प्रकार शब्द जैसा मान लीजिए रूढ़ी शब्द है रूढ़ी शब्द मतलब अनादि से जो चला है राम शब्द है दशरथ का पुत्र अनादि और यौगिक कहते हैं रमनते योगिना यशमिन प्रकृति और प्रकृतियों के द्वारा उसका विभक्त करके जो अर्थ करते हैं उसको कहते हैं योगी जैसा राम का दो अर्थ हो गए एक दशरथ का पुत्र हो गए रूढ़ी और दूसरा है रमनते योगिना यश ये दूसरा हो गया तीसरा एक होता है पंकज शब्द कहा है आपने पंकज कहाने से कमल तो पंकज को तो कमल क्यों ग्रहण किया पंक कहते कीचड़ पंका जाए देती पंकजा तो कीचड़ में कीड़े मकोड़े भी होते हैं तो इसलिए आपको वहाँ दोनों लेना पड़ा पंका जाए देती पंकजा और रूढ़ी भी लेना कमल में या योग भी है रूढ़ है तीसरा चौथा योगी गुरु शब्द एक है दो अर्थ निकलता है यौगिक करने से अलग अर्थ है रूढ़ी में अलग है देश उद्विज शब्द है उद्विज उद्विजा कहने से रूढ़ी लेते हैं याद विशेष हो गया एक याद विशेष का नाम और योग भी करते हैं प्रतिबिंब उत्पाट्य जायते प्रतिबिंब को फाड़ करके उत्पन्न होने वाले कौन वृक्ष आदि झाड़ आदि देखिए यहाँ उद्विजा शब्द याग का भी बोध कर रहे हैं और वृक्ष आदि का उसको बोलते हैं योगी वैसे ही यहाँ महात्मा ने शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं भगवान को रूढ़ी को लेके नहीं योगी को लेकर रूढ़ी को लेकर को लाल कपड़ा डालते हम लोग महात्मा हो गए रूढ़ी है लाल तो लिंग संन्यास है ये रूढ़ी हो गई और योगी का मतलब अक्षुद्र होते हैं परिचिन्न मुझे है ही नहीं उसके अंदर अहंत ममता समाप्त हो गया अथवा शास्त्र में किया है वह लक्षण मनश्चेकम वचश्चेकम कर्मण्येकम महात्मा मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण्यन्यत दुरालोचना वहाँ लक्षण ये है मनस्सन्यत मन में चिंतन कुछ कर रहे हैं और वाणी से कुछ बोल रहे हैं कर्म कुछ कर रहे हैं तीनों का तालमेल नहीं उसको दुरात्मा कहा गया ऐसे लोग भी हैं सोचते कुछ बोलते कुछ करते दुरात्मा माना मनस्य कम वचस्येकम कर्मण्येकम आत्मा मन में जैसा सोच रहे चिंतन कर रहे वैसा ही बोलता है तो वैसे ही करता है उसको महात्मा ने कहा दिया यदि आप कुछ चिंतन कर रहे हैं बोल रहे हैं कुछ कर रहे हैं ठीक है हम दूसरे को ये कर सकते हैं प्रसन्नता कर सकते हैं किंतु अपने आप को ठगा रहे हैं अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो इसलिए वहाँ मनश्चेकम वचस्ेकम कर्मण्येकम होना चाहिए भगवान की ओर जाना है भगवान का अनुभव करना है ये आवश्यकता है तो इसलिए हम बोल रहे महात्मा अर्थात विश्वरूप परमात्मा तो उस परमात्मा का प्रकाश कैसा है एक साथ हजारों सूर्य यदि आकाश में प्रकट हो जावे उस तेज से भी बढ़कर इनका तेज होगा कम नहीं होगा हे भगवान इस प्रकार अर्जुन उसका प्रकाश का तेज का तुलना देते हुए बता रहे हैं उसके बाद बता रहे हैं तत्रे कष्टम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकता अनेकता प्रविभक्तम अर्थात अनेक प्रकार से विभक्त आकाश अलग है पृथ्वी अलग है जल अलग है तेज अलग है तत्त अधिष्ठात्र देवता तो इस प्रकार अनेक प्रकार से विभक्त प्रविभक्त हो तो प्रकृष्टे न विभक्त बिल्कुल अलग कौन जगत कृष्णम सारयो जगत है वो तत्र शरीर वहां लेना उस शरीर में भगवान के शरीर में भी कोई बात नहीं नीचे में जो शरीर है ऊपर में जो तो तत्र यहाँ तो तत्र शरीर है तत्र है आगे एक स्तंभ अलग कर दीजिए उस तत्र को शरीर के साथ अंत कर उस परमात्मा के शरीर में क्या परमात्मा के शरीर में पूरा है नहीं एक स्तंभ एक अंश उस भगवान का शरीर के एक अंश में अपश्यत अपश्यत गुरु देगा किसने अर्जुन ने ये बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हे धृतराष्ट्र अनेक प्रकार से विभक्त हुआ ये सारा जगत और देवता जी जितने भी हैं इन सबको भगवान के शरीर में ही एक देश है उन्होंने अवश्य अर्जुन ने देखा देवदेव शरीर किनका शरीर है ये भगवान जो कृष्ण सामने खड़े हैं वासुदेव का पुत्र उस तो शरीर नहीं देवदेव शरीर देवतों का भी जो देवता है जितने भी इंद्रादि ब्रह्मादि जो देवता है उन देवता का शरीर मतलब हम विराट शरीर का बता रहे हैं सामने जो कृष्ण है वो परिचिन्न रूप से खड़े हैं उसमें नहीं देख रहे वो विराट में व्यापक में उस देवदेव से शरीर अपश्यत अतः देखा तथा पांडव अपश्यत किसने देखा उस समय में उस पांडव ने देखा अर्थात पांडु का पुत्र अर्जुन ने देखा भगवान का एक स्वरूप उसी शरीर के एक देश में और देखने के बाद अर्जुन की स्थिति क्या हो गई तो बता रहे आगे के स्वरूप में ततः ततः तो तस्मा उसके बाद जैसे कोई विलक्षण आश्चर्यजनक अद्भुत वस्तु को देखने से जो व्यक्ति के अंदर विस्मय हो जाती है अर्थात एकाएक ऊंचे रोंगटे खड़े होते हैं और कंठ अवरोध होता है शरीर सारा उलगित हो जाता है प्रफुल्लित हो जाता है यही बता रहे तथा तस्मा इस प्रकार भगवान के शरीर में एक देश में विराट सारा वैभव को देगा उसके बाद स स मतलब अर्जुन जिसने देखा था यद्यपि स सर्वनाम है सर्वनाम पर उसको ही बोध करता है पूर्व का परामर्श करता है जैसा अयोध्या का राजा है राम वह दशरथ का पुत्र है वे वहाँ शब्द से कम लेंगे पहले जो राम को बताया था उसी को ही लिया जाए वैसे ही यहाँ स शब्द है पहले जो बताया था अर्जुन का उसी अर्जुन को संकेत कर रहे हैं स अर्जुन विस्मया विष्णु विस्मय बोल दो रिष्टानी रोमाणी यश स आया अर्थात आश्चर्यपूर्वक और प्रफुल्लित रोंगटे वाला है जो आश्चर्ययुक्त हो गए सारे रोंगटे खड़े हो गए शरीर सारा रोमांच हो गया ऐसा अर्जुन तो इसलिए बोले विस्मया विष्णु विस्मया कैसा रिष्टा रोमा विस्मया विष्णु विस्मया विष्णु मतलब रिष्टानी रोमाणी यश्य जिसके रोमटे अत्यंत खड़े हो गए और रिष्ट रोमा अत्यंत विस्मय पूर्वक प्रफुल्लित होकर उसके रोंगटे खड़े हो गए किसका धनंजय अर्जुन का एक नाम है धनंजय कल बताया था दस नाम में अंतिम नाम बताया धनंजय तो अर्जुन का नाम धनंजय क्यों पड़ा है वह महाभारत में स्वयं बता दिया सर्वान जनपदान जीतवान वित्तमादाय केवलम मत्ते धनस्य तिष्ठामि तेन आहुर्मां धनंजय जैसा कल बताया था विराट के जो पुत्र है वो धर्मवान उसको दस नाम बताया था उस दस नाम में एक एक नाम का उन्होंने व्याख्या भी किया था अर्जुन क्यों नाम पढ़ा धनंजय क्यों नाम पढ़ा गिरटी क्यों नाम पढ़ा विपस्तु क्यों तो इसलिए वहाँ धनंजय इसलिए नाम पड़ा है सर्वान जनपदा चित्वा जिस समय में राजसूय यज्ञ किया था अर्जुन ने सारे राजाओं को जीत लिया क्योंकि अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं सके जित्वा वित्तम आदाया वित्त बोल तो धन उसको ला करके केवलम धन को जाते मध्य धनश्य सारे धन के बीच में मैं खड़ा होगा इतना जीत के लाया हूँ तिष्ठा में तेना आहूत माम धनंजया इसलिए मुझे धनंजय कहते हैं अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया वो जो धनंजय ने धनंजय क्या हो गया विस्मया हो तो विस्मया विष्णु होने के रोंगटे खड़े होने के बाद प्रफुल्लित होने के बाद किया तो क्या उन्होंने तो बोल रहे हैं शिरसा प्रणाम्या सिर झुका करके प्रणाम किया देखिए प्रणाम भी वहां तीन प्रकार का माना है साष्टांग प्रणाम घुटने के सहित आदम प्रणाम और तो एक केवल ऐसे ही जो सामान्य उसमें भी उत्तम मध्यम भेद है तो प्रणाम कोई सामान्य नहीं है महिमा को पाठ करते हैं हम लोग प्रतिदिन वो कुछ प्रादुर्भाव तमदम लोग बोलते हैं प्रतिदिन महिमा में वहाँ पुष्पनंद जी बोल रहे भगवान मेरा ये शरीर जो उत्पन्न हुआ है उससे मैं अनुमान करता हूँ मैंने आपको प्रणाम नहीं किंतु आगे मैं दो अपराध करने जा रहा अपराध क्या अपराध एक तो मैंने पहले प्रणाम नहीं किया था इसलिए मेरा शरीर एक अपराध दूसरा अपराध है मैं आगे आपको प्रणाम नहीं करूंगा तो महिमना पाठ करते उस श्लोक का है वो पुष्प सबसे पहले अपराध है मैं आपको प्रणाम नहीं एक अपराध दूसरा अपराध है आगे प्रणाम नहीं करूंगा यह कैसा उसके लिए भी उपुष्पराध भाव तो दे रहे आपको प्रणाम इसलिए नहीं किया अभी तक मेरा शरीर जन्म हुआ इससे सिद्ध होता मैंने प्रणाम नहीं किया ये प्रथम अपराध आगे प्रणाम क्यों नहीं करूंगा आगे मेरा जन्म होने वाला नहीं इसलिए दो अपराध इसलिए प्रणाम का मतलब है प्रणम्य और प्रणमता दो है जिसको हम प्रणाम करते हैं वो प्रणम्य है जो प्रणाम कर रहे हैं वो प्रणमता है योगारूढ़ होकर यदि प्रणमता प्रणम्य को प्रणाम करेंगे तो दोबारा उसका जन्म नहीं होता है प्रणम्य है वो तत्पद का लक्ष्य है प्रणंद है तुम पद का लक्ष्य है जहां तत्पद और तुम पद जहाँ एक हो गया दोबारा जन्म कहाँ से होगा जन्म संभव नहीं है इसलिए प्रणाम करो हम लोग केवल फर्ज निभाने के लिए प्रणाम करते हैं वो भी ठीक है मध्यम आदम माना है और वहाँ प्रणाम का भी विधान है श्रेष्ठ पुरुष को निकृष्ट पुरुष करते हैं यदि मान लीजिए कोई श्रेष्ठ पुरुष है गुरुजन है सामान्य को यदि प्रणाम करें उसका सर्वनाश माना जाता है जैसे भास्कर आचार्य हो गए श्री विद्या के सबसे बड़े आचार्य ललिता शास्त्र नाम के ऊपर उनकी और सुंदर टीका है बहुत बड़े बहुत भट्ट विद्वान वो प्रतिदिन वहाँ मंदिर था दुर्गा के मंदिर में जाते थे ये जो जाना उसी समय में वहाँ एक दंडी स्वामी दर्शन करके आते थे बूढ़े थे दंडी स्वामी ने देखा ये ब्राह्मण है प्रणाम तो करता ही नहीं एक दिन बुला के कहा देखो पंडित जी आप गृहस्थी हैं गृहस्थी का कर्तव्य होता है संतों को प्रणाम करना चाहिए तो उन्होंने कहा महाराज मैं प्रणाम तो करता हूँ आपको मन ही मन किंतु ये प्रणाम आपको नहीं कर सकता हूं मैं दंडी स्वामी जी ने पूछा क्यों नहीं कर सकते तो आपका दंड वहां रख दीजिए दंड रखे उसको प्रणाम के दंड टुकड़े टुकड़े हो कहने का तात्पर्य वो इतने बड़े उपासक थे तो बड़े जो साधक है उपासक है दूसरे को तो उसका सर्वनाश और एक व्यक्ति ये भी भूल करता है उन्हें ख्याल रखना चाहिए कोई प्रणाम करे उसके बीच में कभी नहीं करना चाहिए अथवा कोई अध्ययन हो रहे उसके बीच में नहीं जाना चाहिए समाना है मान लीजिए कोई शिष्य है गुरु को प्रणाम कर रहे हैं अथवा मंदिर में जाके प्रणाम कर रहे हैं थोड़ा दूर है बीच में क्या परिक्रमा करने वाला क्या करता है बीच में जाता है आपका प्रणाम भगवान को नहीं गया उनको गया आपका प्रणाम उसने काट दिया कोई प्रणाम कर रहे हैं उसका प्रणाम को काटना उचित नहीं अनुचित है यही बात महाभारत में आ है सारे युद्ध हो गए थे अंतिम में दुर्योधन बच गए थे उसमें ब्रह्म सरोवर में जाके छुप गए थे कुरुक्षेत्र पांडवों ने ललकार दिया तो दुर्योधन बाहर आ गए उसके बाद अभी युद्ध होना था पहले ही निर्णय किया था सैनिक सैनिक के साथ युद्ध करेंगे रति रति के साथ अश्व अश्व के साथ अश्व राजा राजे के साथ युद्ध करेंगे दुर्योधन ने कहा मैं राजा मैं राजा के साथ युद्ध और पांडव में राजा था युधिष्ठिर और गदा युद्ध में दुर्योधन को बलराम है परशुराम है और इनसे अतिरिक्त कोई परास्त नहीं कर ना अर्जुन कर सकते हैं ना युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से युद्ध करे युधिष्ठिर अवश्य परास्त होगा युद्ध में उतने में भगवान ने कहा राजा युधिष्ठिर नहीं है भीम है भगवान है जहाँ भी जाके चालाकी कर दुर्योधन ने कहा आपकी चालाकी नहीं चलेगी यदि भीम यदि राजा हम तभी मानेंगे युधिष्ठिर जाके उनको प्रणाम करें भगवान ने कहा अवश्य प्रणाम करेंगे भीम घबरा गए क्योंकि युधिष्ठिर यदि प्रणाम करे तो युधिष्ठिर का नाम है अजात शत्रु है उसका रथ ऊपर से जाता था जमीन में स्पर्श नहीं होता था ऐसा है जहाँ उन्होंने आधा सत्य बोल दिया तभी नीचे आ गया हतो हता नरो वा नीचे आया कहा भगवान ये क्या करना चाहते मेरा सर्वनाश करना चाहते क्या ये नहीं होगा चाहे तो राजा नहीं चाहिए हम लोग तो भगवान ने कहा युधिष्ट अवश्य प्रणाम करें तो युधिष्ठिर प्रणाम करने के भगवान बीच में वो प्रणाम अपने को ले लिया तभी दुर्योधन ने कहा भगवान आप यहाँ भी जाओगे तो कहने का तात्पर्य है वे प्रणाम कर रहे हैं तो बीच में गए उसका प्रणाम को आपने ले लिया गुरु को नहीं मिला भगवान को नहीं मिला ये ख्याल रखें तो इसलिए बोले प्रणाम यहाँ शिरा सहा सिर जो करके किसको देवम ऐसा जो देवता है अर्थात विराट हो भगवान देवम बोलो प्रणाम केवल सिर झुका करके नहीं कृतांजलि कृतांजलि मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ करके एक तो कभी कभी हम हाथ जोड़ते ही सिर नहीं झुकाते कभी कभी सिर झुकाते हैं हाथ नहीं जोड़ते तो इसलिए बिल्कुल हाथ जोड़ करके कल ही बताया था प्रणाम करते हुए विशेष रूप से हमारा हाथ ऐसा होना चाहिए उत्तम माना जाता है हम दूसरे को नहीं प्रणाम कर रहे हैं हमारे अंदर पड़े हुए अंतराल बोलते नमो नारायण आत्मा तो बोलते हैं ना नमो नारायण का नाम है अंतर्यामी वार्तिक सार में विचार किया है नमो नारायण का मतलब अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी को प्रणाम सभी के अंदर बैठा हुआ ईश्वर है इसलिए हम बता रहे हैं कृतांजलि अंजलि कृतव तो हाथ जोड़ करके केवल इतना ही नहीं प्रणाम भी किया अभाषता सिर झुका दिया हाथ जोड़ दिया और वाणी के द्वारा कुछ भगवान के विषय में बोलने लग गए क्या बोल रहे हैं आगे बता रहे अर्जुन भगवान पश्यामि देवान तव देव देहे तव देह देह हे देव संबोधन हे परमात्मा हे व्यापक ईश्वर मैं आपके शरीर में तवदेव तो आपके शरीर में पश्यामी सर्व सर्व पश्यामी ये जो आपके शरीर में है मैं समस्त देवान पश्यामी एक नहीं सारे देवता पीछे बताया था तैतीस करोड़ तैतीस प्रकार के देवता केवल देवी मात्र ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सारे देवताओं को वही देखा देवान पश्यामी देवान को देवताओं को देख देखा कहा तव देखे आपके शरीर देवा है संबोधन है देवान को तो देव को देख रहे देवा है संबोधन है हे देवा हे परमात्मन देवान सर्वान देवान पश्यामि सभी देवताओं को आपके शरीर में देख रहा हूं केवल देवताओं को ही देख रहा हूं ये बात नहीं तथा भूत विशेष संघान उसी प्रकार भूत विशेष यहां भूत का मतलब वो भूत नहीं तावर जंगमात्मक सारा भूत लेना ये शंकर जी के पास भूत गण है वो नहीं लेना भाष्यकार्य अतः भूत विशेषाण स्थावर स्थावरजंगमानां नाना संख्याना विशेषणां जो स्थावरात्मक है जंगमात्मक है ऐसा नाना प्रकार की विभक्ति अलग अलग आकृति देखिए स्थावर और जंगम में एक आकृति हम सब जंगम है जंगम का मतलब चलने फिरने वाले इतने जो जंगम है एक के जैसा दूसरा कोई है कुछ ना कुछ अंतर है ऐसा बनाए बताए नहीं भगवान ने बिल्कुल वो कोई हो ही नहीं सकता कोई ना कोई अंतर है ऐसा जो अनेक आकृति वाले हैं भिन्न भिन्न है उनको भी मैं देख रहा हूँ ये बता रहे पश्यामी दोनों साथ अनुय कर दीजिए देवान पश्यामी भूत विशेष संगान पश्यामी और इनको ब्रह्मांड ಮೀಶಃ ಕಮಲಾಸನಷ್ಟ ब्रह्मांड ಮೀಶಂ ಕಮಲಾಸನಷ್ಟ ब्रह्म बोल तो चतुर्मुख चतुर्मुख जो ब्रह्मा है सृष्टिकर्ता उस ब्रह्मा को भी और ईशम बोल तो ईशितारम प्रजाना अर्थात सारे जो प्रजाओं को शासन करने वाला और कमलासन में विराजमान है उस ब्रह्म को भी देख रहा भाष्यकार ने दूसरा अर्थ किया कमल आसन का ये तो प्रसिद्ध कमल है उस आसन में बैठते हैं ब्रह्मा जी किंतु पृथ्वी को भी कमल कहते हैं तो पृथ्वी पद्मा मध्य मेरु करने का आसन पृथ्वी है कमल जैसे कमल के बीच में कर्णिका थी उसमें छोटे छोटे पराग रहते वैसे ही प्रतिविरूप कमल में रूप कर्णिका है उसमें कमल के बीच में आने वाले उसको कर्णिका कहते उस कर्णिका के ऊपर भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बैठे तो पृथ्वी हो गया कमल सुमेर हो गया वो कर्णिका उस सुमेर के ऊपर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बैठे हैं उसको भी मैं देख रहा हूँ तो ये कमला समझता और को देख रहे विशेष सर्वान यद्यपि सर्वान उर्गम के साथ तो देहली दीप के द्वारा दोनों में लाना एक न्याय होता है देहली दीप न्याय उसको काकाक्ष न्याय भी कहते हैं देहली दीप मतलब जैसा आपने दीपक जला दिया दरवाजा में रख दिया अंदर भी प्रकाशित करेगा बाहर भी करेगा वैसे ये सर्वान शब्द है ऋषियों के साथ भी लीजिए अंगों के साथ लीजिए तो सर्वान ऋषि पश्चा सारे जितने भी ऋषि हैं इन ऋषियों को भी आपके शरीर के अंदर एक भाग में मैं और दिव्यान उरागान सर्वान उरग कहते हैं सर्व आदि जो भी मैं है दिव्य है विलक्षण है कारकोटा है विलक्षण विलक्षण नाम वाले ऐसे दिव्यान उरागान अभी ये सारे जो सर्वों के जाति वाले हैं उनको भी भगवान में और भी बता रहे सोलहवें श्लोक में देखिए अनेक बाहु ये पीछे भी बताया था शुरू में और कैसे है आपके अनेक ऊर्जा है क्योंकि सारा ब्रह्मांड है आपका स्वरूप है ये सारे जीव है आपकी विभूति है इसलिए सारे ऊर्जा आपके हैं जीव ने केवल अभिमान किया बस इतना ही नहीं दो प्रकार की सृष्टि है ना ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि दुखदायक नहीं है दुखदायक हो गई जीव सृष्टि जैसा मान लीजिए किसी का पुत्र हो अथवा कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति बाहर देश में गया दूर देश में गया ठगाने वाला व्यक्ति ने आपको संदेश दिया आपका पुत्र मर गया अथवा आपका जो मित्र मरा तो नहीं केवल संदेश क्या कोई माता पिता भोजन करेंगे नहीं करेंगे पुत्र वहाँ जीवित है कमा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं किंतु माता पिता ने भोजन छोड़ दिया क्यों मन का पुत्र मर गए दूर देश में गया हुआ कोई पुत्र है वास्तव में मर गया इधर कोई पता नहीं बढ़िया भोजन कर रहे क्यों मन का पुत्र विधर इसलिए जीव सृष्टि ही दुखदायक है ईश्वर सृष्टि नहीं ये सारा परमात्मा का शरीर है परमात्मा ही काम कर रहे हैं जीव केवल अभिमान कर रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं अनेक बाहुल्य सारे आपके ही भाव में श्वेता श्वेत उपनिषद में कहा गया है वहां तुम पुमान तुम श्री तुम दंडे न वंचसी तुम ही पुरुष हो तुम ही श्री हो तुम ही वृद्ध बनकर दंडे में चल रहे दूसरा तो है इसलिए अनेक भाव ये सारे उनके ही भाव और उदर यहाँ भी अनेक उदर मतलब पेट अनेक पेट है और अनेक बाहु उदरा वक्त्र वक्त्र बोलते मुख अनेक सर्वत्र अनेक अनेक नेत्र पश्या तो अनेक बाहु को लेकर अनेक वेद है अनेक मुख है अनेक नेत्र है सबको देख त्वाम त्वाम पश्या आपको रहा सर्वतः जहां भी देख रहा हूं आपके ही सब देख रहे बेटा अनंत रूपम अब कैसा है अनंत रूप है उस रूप को बता नहीं सकता है कभी अंत होने वाला नहीं न अंतम न मध्यम उसका कोई अंत नहीं है कहाँ जाके मैं अंत इसका ढूंढ अंत नहीं जैसा भगवान का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था जिसको हम शिवरात्रि बनाते ब्रह्मा और विष्णु में आपस में झगड़ा हो तो उन दोनों के लिए कहा गया था भगवान ने महिमन सूत्र में भी संकेत किया है भगवान विष्णु को कहा आप नीचे जाओ इसका पता करो ब्रह्मा जी को कहा आप ऊपर जाके बताओ जो पता करेंगे वो श्रेष्ठ है वर्षों वर्षों जाते रहे पता ही नहीं मान पड़ा अनला ब्रह्मा जी जा रहे थे ऊपर से केतक की पुष्प नीचे गिर रहा था ब्रह्मा जी ने उसको बटा दिया और कहा तुम गवाही दे दो ब्रह्मा जी ने ऊपर पता कर दिया तो केता के पुष्प नहीं भगवान शंकर जी है उसको तो सर्वनाश करेंगे ब्रह्मा जी ने को कोई चिंता नहीं मैं संभालूंगा तो ब्रह्मा जी आ गए और कहा दिया भगवान आपका ऊपर का भाग मैंने पता करके आया प्रमाण देखो केतके पुष्प भगवान शंकर जी को आया गुस्सा झूठ बोलते हो केतकी को भी शाप दिया कभी भी मेरे ऊपर नहीं चढ़ सकते इतना सुगंध युक्त पुष्प होने पर भी भगवान को नहीं चढ़ा सकते खेवड़ा खेवड़ा और ब्रह्मा जी को भी शाप दिया तेरी पूजा ही नहीं होगी कहा केवल कलश होगा ब्रह्म कलश स्थापित पुष्कर को छोड़ करके ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती केवल पुष्कर में भगवान विष्णु आ गए उन्होंने कहा भगवान आपका अंत कोई भी पार नहीं कर सकते तो उतने में भगवान प्रसन्न हो गए आपने सत्य बोल दिया आपको साष्टांग पूजा है इसलिए साष्टांग बची भगवान विष्णु तो इसलिए हम बता रहे अंतम आपका कोई अंत नहीं अंत ही नहीं तो मध्य निश्चय कहाँ से करेंगे किसी वस्तु का आदि और अंत हो अब बीच में निर्णय कर सकते हैं तो इसलिए न मध्यम न पुनस्तव आदि भगवान आपका आदि भी नहीं ये सब मैं देख कर हूँ पश्चात आपका अंत भी नहीं है आपका मध्य भी नहीं है और आपका आदि भी नहीं है सारा भी देख कर हूँ विश्वेश्वरा विश्व हे विश्वेश्वरा संबोधन है विश्व का ईश्वर है आप सारा जगत का आप स्वामी है विश्व रूप सारा जगत ही आप है आपसे अतिरिक्त है नहीं ऐसा मैं देख कर अर्जुन गदगद होके बोल रहे हैं और भी बता रहे थे कि किरीट नम अब दिव्य किरीट को धारण किया है या दिव्य का अध्यार कर और गदी नम हाथ में गदा भी धारण किया है चक्र नम एक हाथ में अब चक्र भी धारण किया है काल चक्र को धारण किया है काल को भी श्रृंगार करे ऐसा काल चक्र को धारण किया है तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम तेजो राशि चारों तरफ से दीप्तिमंतम तो प्रकाशमान दे दीप्यमान चारों तरफ से फैले हुए आभा ऐसा जो तेजो राशि अहम पश्यामी हे भगवान मैं देख रहा हूँ उसको भी मैं देख रहा हूँ पश्यामी त्वाम तो पश्या आपको देख रहा हूँ कैसा सर्वतः दिव्यमंतम तेजो राशि त्वाम पश्या चारों तरफ से फैला हुआ जो तेज राशि है तेज पुंज रूप से मैं आपको देख रहा दुर्निरीक्षम अवतार को कैसा है दुर्निरीक्ष है उसको देखना ईक्षण करना बहुत कठिन है जैसा मान लीजिए वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय उसको आप देख नहीं सकते आम चुपचुप हो जाएंगे इसलिए वेल्डिंग करने वाला क्या करता है सामने एक शीशा जैसा लगता है और उसको हम नहीं देख सकते तो हजारों सूर्यों से अधिक जो तेज है उसको कैसे देख सकते हैं इसलिए दुर्निरीक्षण समन्तः दीप्तः अनलः अर्कद्युतिम् अप्रमेयम् समता मतलब चारों तरफ से सर्वत्र व्यापक दीपता अनल दीपता बोल तो अत्यंत प्रज्वलित जो अनल बोल तो अग्नि के समान अर्घ कहते हैं सूर्य प्रज्वलित अग्नि और सूर्य की ज्योति ज्योति बोल तो दे भयंकर वो कैसे है अप्रमेयम प्रमेय कहते हैं तुला था एक के समान दूसरे को बता रहे इनको प्रमेय कहा अथवा प्रमाण का विषय होता है उसको प्रमेय कहते हैं सादृश को भी प्रमेय किंतु आपका देव कैसा है प्रज्वलित अग्नि के समान है सूर्य के समान है तो कोई भी तुलना नहीं है और उसको देखना भी असंभव है ऐसा तेज को मैं देख रहा हूँ भगवान अर्जुन बता रहे और भी बता रहे इसलिए आपकी योग शक्ति को देखकर मैं अनुमान करता भगवान भाष्यकार जी बता रहे इत एवं योग शक्ति दर्शनार्थ अनुमिनोमी आपकी जो ऐसा वैभव है ऐसा जो ऐश्वर्य है उसको मैंने देखा उसको देखकर मैं अनुमान करता देखिए अनुमान वही होता है कार्यम दृष्टवा कारण अनुमीयते कार्य को हम देखते हैं तभी कारण का अनुमान होता है जैसे दूर में आप देख रहे रहे एकदम धक धक करके तुरंत आप बोलते वहाँ आग लग गई तो वहाँ आग लग रही जब कुंभा मेला में कभी कभी एकदम धू धू धू करके वो आ रहे ऊपर तो बोले बोले वहाँ आग लग गई वहाँ आग लग गई आपको कैसा अनुभव हो गया आपने तो देखा तो भाई किंतु जो धू आ रहा है एकदम एक कार्य है किसका अग्नि का तो अग्नि का कार्य धुआं को लेकर अग्नि का अनुमान किया वैसे ही ये विलक्षण जो विभूति को देगा ये कार्य है इन कार्यों को योग शब्द को देकर अंतमान के द्वारा बता रहे भगवान आप कैसा हो सकते करके अठारह श्लोक में तुम अक्षरम आप कैसा है अक्षर है अक्षर का मतलब अकाल उकार आदि अक्षर नहीं लेना न क्षरती शर का मतलब नाश शर का मतलब विनाश जिनमें भाव विकार है शर का जायते अष्टे वर्धते वर्णमते अपक्षीयते विनश्यते क्षर है आप तो अक्षर है कोई क्षर नहीं अर्थात अच्युत अक्षर कही अथवा अच्युत कहे क्षर का मतलब चुप होना और अच्युत का मतलब कभी चुत नहीं होता है इसलिए आप अक्षरम तम अक्षरम परमम वेदितव्यम अर्थात जो मुमुक्षु पुरुष है जिज्ञासु पुरुषों के द्वारा वेदितव्यम वेदितव्यम को तो जानने योग्य है किनके द्वारा ऊपर से अध्ययन कर लीजिए जिज्ञासु मुमुक्षु जनों के द्वारा तो जिज्ञासु मुमुक्ष पुरुषों के द्वारा जानने योग्य परम अक्षर है सामान्य नहीं है ये तो अक्षर कहने से आप ओंकार भी ले सकते ओंकार है तस्य वाचक प्रणव योग सूत्र में वो वाचक है यहाँ वाचक नहीं लेना वाच्य लेना वाचक का मतलब नाम होता है जैसे घट हो गया ये वाचक है तो घट लाओ कहने से आप शब्द को नहीं ला रहे कमुग्रीव गोला है उसको लाते तो अर्थ होता है वाचन शब्द होता है वाचक तो ओंकार है वो परमात्मा का वाचक है तस्य वाचक प्रण उसको व्यावृत करने के लिए भगवान बोलता है परम अक्षर परम का मतलब है कभी नाश नहीं हो सकता है अपरिचिन्न है अर्थ है परमात्मा का अविनाशितम का तो परमम अक्षरम वेदितव्यम जानने योग्य है इनके द्वारा जिज्ञासु महापुरुषों के द्वारा ऐसे आप हैं अर्जुन अनुमान कर रहे हैं कार्यों को देखकर तमश्य विश्वस्य परम निधान अश्य विश्वस्य ये सारा जो जगत देख रहे हैं दृश्य रूप से भान हो रहे हैं ये सारा जगत का परम निधान निधीयते अस्मिन निधान निधान कहते हैं जिसमें कोई वस्तु रखी जाती जैसा कुछ सामान लाया आपने अलमारी में रख दिया तो सामान उस अलमारी में आपने रख दिया कुछ सब्जी लाया रख दिया फ्रिज में तो इसलिए जिसमें कोई वस्तु रखी जाए जाता है उसी का नाम निधान अथवा आश्रय है निधान का मतलब है आश्रय जैसा आपकी वस्तु का आश्रय कौन हो गया अलमारी हो गई सब्जी आदि रखा उसका आश्रय कौन हो फ्रिज वैसे ही सारा जगत का निदान मतलब आश्रय आप क्योंकि आपके बिना ये नाम रूप आत्मा जगत का कोई आश्रय हो ही नहीं सकता तुम अव्यय आप कैसे है अव्यय ऊपर जो बताया था वही है कोई अंतर नहीं है अक्षर कही है अव्यय शब्द व्यय का मतलब नाश स्वरूपतनाशु अथवा गुणतानाशु किंतु आप कैसे हैं दोनों से अब निराकार है निर्गुण है निर्गुण होने से गुणता भी नाश नहीं निराकार होने से स्वरूपता भी नाश नहीं इसलिए अवधि शाश्वत धर्म भोक्ता धर्म का विशेषण शाश्वत बोलो अनाधि जो अनादि है ऐसा जो सनातन धर्म तो अनादि धर्म का आप रक्षक है पीछे बताएगा यदा यदा ही धर्म ग्लानि भवति भारत हे भारत धर्म का जब जगह ग्लानी आती है त्रुटि आती है तभी उसका उद्धार करने के लिए मैं अवतार लेता तो इसलिए शाश्वत धर्म को शाश्वत शब्द से लेना अनादि लीजिए उस अनादि से अनादि क्यों है ये सनातन धर्म है किसी के द्वारा स्थापित नहीं है सनातन धर्म में बड़े बड़े ऋषि लोग हो गए किसी ने बनाया नहीं राष्ट्रीय आ गए और भी बड़े बड़े ऋषि आ गए बनाए इसलिए धर्म और मत अलग हो गए अभी हम मत को भी धर्म मानते हैं अभी जितने भी जो है हम बोलते ना अमुक धर्म है हिंसा है ये धर्म नहीं है मत है मत होता है एक व्यक्ति का अभिप्रेम है धर्म है धारणादि धर्म रौद्रीयते जिसको धारण किया जाता है सारा जगत को धारण करता वो धर्म है अब मत को हम धर्म बता रहे ये भूल है वो मत है धर्म नहीं इसलिए अनादि धर्म बोध सनातनत्व आप सनातन हैं अर्थात स्वयं आप सनातन है कोई आदि नहीं आपका पुरुषो मतो में आप पुरुष है पूर्ण है पुरुष करते हैं अनात्मा पदार्थ को पूर्ण करते हैं ऐसा पुरुष है ये मेरा मत है उन कार्यों को देकर ये मैं अनुमान कर रहा हूँ बता रहे हैं आगे का विचार हम लोग कर सकते Oh.